1968 मैं प्राइस वक्टर हाउस में सप्ताह के छः दिन काम कर रहा था इसके अलावा जो समय बचता था वह मैं ब्लू रिबन के काम में लगा रहा था यानी सुबह का समय देर रात का समय सारे वीकेंड और वेकेशन कोई मित्र नहीं कोई व्यायाम नहीं कोई सामाजिक जीवन नहीं लेकिन इसके बावजूद भी मैं पूरी तरह संतुष्ट था मेरा जीवन निश्चित रूप से संतुलन के बाहर था लेकिन मुझे परवाह नहीं थी वास्तव में मैं और भी ज़्यादा संतुलन चाहता था या एक अलग तरह का असंतुलन जीवन चाहता था मैं हर दिन का हर मिनट ब्लू रिबन के प्रति समर्पित करना चाहता था मैं कभी मल्टीटास्किंग करने वाला नहीं रहा था और मुझे इसे शुरू करने का कोई कारण नहीं दिख रहा था मैं हमेशा वर्तमान में जीना चाहता था मैं उस एक काम पर लगातार केंद्रित रहना चाहता था जो सचमुच मायने रखता है अगर मेरा जीवन सिर्फ काम पर केंद्रित रहे और इसमें खेल का नामो निशान नहीं हो तो मैं चाहता था कि मेरा काम ही खेल हो मैं प्राइस वक्टर हाउस को छोड़ना चाहता था ऐसी बात नहीं थी कि मुझे मुझे उसे नफरत थी यह तो बस मेरे अस्तित्व की पहचान नहीं थी मैं नहीं चाहता था जो हर व्यक्ति चाहता था मैं मैं बनना चाहता था पूरे समय लेकिन यह संभव नहीं था ब्लू रिबन मुझे सारा नहीं दे सकती थी हालांकि कंपनी अपने पांचवें साल बिक्री दुगनी करने की राह पर थी लेकिन इसके बावजूद यह अपने सह संस्थापक के वेतन का तर्क संगत नहीं उठा सकती थी इसलिए मैंने समझौता करना का निर्णय लिया अब मैं दिन की कोई दूसरी नौकरी खोजने लगा जिसमें कम घंटे काम करना पड़े इससे मेरे खर्च चल जाएं ताकि मेरे पास अपने जीवन के लक्ष्य के लिए ज़्यादा समय रहे मैं इस मानदंड पर खरा उतरने वाले केवल एक ही काम के बारे में सोच सकता था और वह था पढ़ाना मैंने पोलैंड स्टेट यूनिवर्सिटी में आवेदन दे दिया और मुझे सहायक प्राध्यापक की नौकरी मिल गई वेतन था हर महीने 700 डॉलर मुझे प्राइस वक्टर हाउस छोड़ने पर खुशी होनी चाहिए थी लेकिन मैंने वहाँ बहुत कुछ सीखा था और मैं हैज को छोड़ने का सोचकर दुखी था मैंने उनसे कहा अब काम के बाद कॉकटेल बंद कर दें कोई वल्ला वल्ला नहीं मैंने कहा मैं अपने जूते पर ध्यान केंद्रित करने जा रहा हूँ हैज ने त्योरी चढ़ाई और मुझे बुदबुदाया कि उन्होंने मेरी कमी खलेगी या शायद मेरी प्रशंसा के बारे में कुछ कहा मैंने पूछा कि वे क्या करने वाले हैं उन्होंने कहा कि यही प्राइस वक्टर हाउस में जमने वाले हैं पचास पाउंड वजन कम करो साझेदार बन जाओ यही उनकी योजना थी मैंने उन्हें शुभकामनाएं दी मेरे त्यागपत्र और औपचारिक हिस्से के रूप में मुझे जाकर बॉस से बात करनी थी जो कर्ली कैलर नाम के सीनियर पार्टनर थे वे विनर्म थे निष्पक्ष थे और एकांकी खेल रहे थे जो वे सैकड़ों बार खेल चुके थे नौकरी छोड़ने वाली कर्मचारी का इंटरव्यू उन्होंने पूछा कि मैं संसार की सबसे अच्छी अकाउंटेंट फॉर्म में से एक को छोड़कर क्यों जा रहा हूँ मैंने कहा कि मैंने अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया है और यह आशा कर रहा था कि यह परवाह चढ़ेगा और इस दौरान मैं अकाउंटिंग पढ़ने वाला था उन्होंने घूरा मैंने अजीब चीज बोल दी तुम आखिर ऐसा क्यों करोगे आखिरकार नौकरी छोड़ने वाले कर्मचारी का सचमुच मुश्किल इंटरव्यू था मैंने अपने डैडी को बताया उन्होंने भी मुझे घूराई यही पर्याप्त बुरा था कि मैं जूतों के साथ गद्दे की तरह घूम रहा था उन्होंने कहा लेकिन अब यह पढ़ाना सम्मानजनक नहीं था पॉलेट स्टेट में पढ़ाना बेहद असम्मानजनक था उन्होंने पूछा मैं अपने दोस्तों को क्या बताऊंगा यूनिवर्सिटी ने मुझे चार अकाउंटिंग कक्षाएं दी जिसमें अकाउंटिंग एक शामिल थी मैंने कुछ घंटे तैयारी में लगाए बुनियादी अवधारणों की समीक्षा और जब शरद ऋतु आई तो मेरे जीवन का रुख बदल गया मेरे पास भी वह सारा समय नहीं था जो मैं चाहता था या जिसकी मुझे ब्लू रिबन के लिए ज़रूरत थी लेकिन मेरे पास पहले से ज़्यादा समय था मैं एक ऐसे मार्ग पर चल रहा था जो मेरे मार्ग जैसा महसूस हो रहा था और हालांकि मुझे पक्का नहीं था कि यह मुझे कहाँ ले जाएगा लेकिन मैं पता लगाने के लिए तैयार था इसलिए मैं 1967 के सितंबर की शुरुआत में सेमेस्टर के उस पहले दिन आशा से दमक रहा था बहरहाल मेरे विद्यार्थी आशा से नहीं दमक रहे थे धीरे धीरे वे क्लास में आए और उनमें से प्रत्येक के चेहरे पर बोरियत और शत्रुता के भाव थे अगले एक घंटे तक वे इस घुटन भरे पिंजरे में बंद रहेंगे उन्होंने कुछ सबसे नीरस अवधारणाएं पिलाई जाएंगी जो आज तक खोजी गई हैं और उन्होंने तय किया कि इसके लिए मैं दोषी हूँ इसलिए मैं उनके द्वेष का निशाना था उन्होंने मुझे त्योरी चढ़ाकर देखा कुछ ने तो उदासी भरी शक्ल भी बनाई मैं उनसे पूर्णाभूति रखता था मैं इस बात के लिए तैयार नहीं था कि वे मुझे बौखला देंगे अपने काले सूट और पतली भूरी टाई में लेक्चर स्टैंड पर खड़े खड़े मैं ज्यादातर समय शांत रहा मैं हमेशा थोड़ा बेचैन था थोड़ी बहुत हाथ की हरकतें करता और उन दिनों मेरे कई घबराहट घबराहट के संकेत थे जैसे अपनी कलाई पर रबड़ बैंड लपेटना और उनसे लिखना अपनी त्वचा पर उन्हें कसकर चटकाना मैंने उन्हें थोड़ा ज़्यादा तेजी से चटकाया होगा जब मैंने विद्यार्थी को कमरे में कुछ इस तरह कंधा झुकाकर आते देखा जिस तरह कैदी कतार बनाकर आते हैं अचानक क्लासरूम में एक आकर्षक युवती आई जो तेजी से आकर सामने वाली कतार में बैठ गई उसके लंबे सुनहरे बाल थे जो उसके कंधे को सहरा रहे थे और उसने मैचिंग की सुनहरी बड़े छल्ले वाली बालियां पहन रखी थी और वे भी उसके कंधे को छू रही थी मैंने उसकी तरफ देखा और उसने मेरी तरफ चमकदार नीली आंखें काले आईलाइनर की मदद से शानदार दिख रही थी मैंने क्ले ट्रॉफी के बारे में सोचा मैंने जूली क्रिस्टी के बारे में सोचा मैंने सोच वा जूली क्रिस्टी की छोटी बहन मेरी अकाउंटिंग क्लास में अभी अभी पढ़ने आई है मैं यह सोचने लगा कि उसकी उम्र कितनी होगी वह अभी बीस की नहीं हो सकती मैंने अंदाजा लगाया मैंने अपनी कलाई पर बंधे रबड़ बैंड कई बार चटकाया और घूरता रहा फिर नहीं घूरने का नाटक किया उससे दूर देखना मुश्किल था और उसे समझाना तो और भी मुश्किल इतनी कमसिन लेकिन फिर भी इतनी दुनियादार वे बालियां वे सचमुच हिप्पी थी लेकिन आंखों का मेकअप बहुत फैशनेबल था यह लड़की कौन थी और अगर वह सामने की कतार में बैठी रही तो पढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कैसे कर सकता हूँ मैंने हाजिरी ली मैं अब भी नाम याद कर सकता हूँ Ms Trujillo present Ms Peterson present Ms Jensen present Ms Perks present Julie Christie की छोटी बहन ने नजाकत से कहा मैंने ऊपर देखा और हल्की सी मुस्कान दी उसने भी हल्की सी मुस्कान दी मैंने उसके पूरे नाम के सामने एक हल्का सा पी लिखा पेनीपोल पॉक्स पेनीपोल संसार की यात्रा करने वाला ओडिशियन की वफादार पत्नी वह सामने थी और कमाल थी मैंने सुकरात की नीति पर चलने का निर्णय लिया मुझे लगता था मैं ऑर्गन और स्टेनफोर्ड के उन प्रोफेसरों की नकल कर रहा था जिनकी क्लास में मुझे सबसे ज़्यादा आनंद आया और मैं अब भी सारी ग्रीक चीज़ों के सम्मोहन में था मैं अब भी प्रोफाइलिंग में अपने दिन से सम्मानित था लेकिन शायद लेक्चर देने के बजाय प्रश्न पूछकर मैं खुद से ध्यान दूर हटाने की कोशिश भी कर रहा था और विद्यार्थी को सहभागी बनाने के लिए मजबूर कर रहा था खासतौर पर कुछ सुंदर विद्यार्थियों को ठीक है क्लास मैंने कहा आप एक डॉलर दो दो डॉलर और तीन डॉलर एक जैसी तीन मशीनें खरीदते हैं आप एक को पाँच डॉलर में बेच देते हैं उस बेची हुई मशीन की लागत कितनी है और बिक्री पर कुल मुनाफा कितना है कई हाथ ऊपर हुए लेकिन अफसोस जिनमें मिस पॉकस का हाथ नहीं था वह नीचे देख रही थी स्पष्ट रूप से वह प्रोफेसर से ज्यादा शर्मीली थी मैंने मजबूरन मी टोलिजो और मी फिर पीटसन से जवाब देने को कहा ठीक है मैंने कहा अब मी टोलिजो ने अपनी इन्वेंट्री फी के आधार पर दर्ज की और चार डॉलर का सरल मुनाफा निकाला मी पीटरसन ने लाइफो का इस्तेमाल किया और उस पर दो डॉलर का सकल मुनाफा कमाया तो बेहतर व्यवसाय किसका है एक बहस छिड़ गई जिसमें मिस बॉक्सर को छोड़कर बाकी हर एक ने हिस्सा लिया मैंने उसकी तरफ देखा और देखता रहा वह कुछ नहीं बोली उसने ऊपर भी नहीं देखा मैंने सोचा शायद वह शर्मीली नहीं थी शायद वह बुद्धू थी कितनी दुखद बात है कि वह इस क्लास से चली जाएगी या मुझे उसे फेल करना होगा शुरुआत में मैंने अपने विद्यार्थियों को अकाउंटिंग के सारे बुनियादी सिद्धांत की गुट्टी पिलाई संपत्ति दायित्व तथा इक्विटी के बराबर होती है मैंने कहा यह बुनियादी समीकरण हमेशा हमेशा संतुलन में रहना चाहिए मैंने कहा अकाउंटिंग का काम समस्या सुलझाना है और ज़्यादातर समस्या इस समीकरण के संतुलन की वजह से होती है इसलिए उसे सुलझाने का तरीका उसे संतुलित करना या कहते समय मैं थोड़ा पाखंडी महसूस कर रहा था क्योंकि मेरी कंपनी का दायित्व और इक्विटी का अनुपात नब्बे दशमलव दस था जो बहुत ही ज़्यादा असंतुलित था एक से ज़्यादा बार मैं ये सोचकर कांप उठा फिर वेलेस मेरी क्लास में बैठे होते तो क्या करते मेरे विद्यार्थी भी इस समीकरण को संतुलित करने में ज़्यादा सक्षम नहीं होते उनके होमवर्क भयंकर थे मिस पॉलिस के अववाद को छोड़कर उसने पहले असाइनमेंट में बाजी जीत ली अगले और उसके अगले असाइनमेंट में उसने खुद को कक्षा की शीर्षक विद्यार्थियों के रूप में स्थापित किया और उसने सिर्फ हर जवाब ही नहीं दिया उसकी लिखाई भी शानदार थी जापानी हस्तलिपि की तरह ऐसी लड़की जो कमाल दिखती थी और इतनी बुद्धिमान भी थी उसे मिड बर्स में क्लास में सबसे ऊंचा ग्रेड मिला मैं नहीं जानता था कि कौन ज्यादा खुश था मिस बक्सर या मी नाइट जब मैंने परीक्षा के परिणाम थमाए तो उसके कुछ समय बाद वह मेरी डेस्क पर रुकी और उसने पूछा कि क्या वह मुझसे कुछ बात कर सकती है मैंने कहा जाहिर है मैंने अपनी कलाई की रबड़ बैंडो की तरफ हाथ उठाया और उन्हें जमकर पटपटाया उसने पूछा कि क्या मैं उसका सलाहकार बन सकता हूँ मैं चकित रह गया ओ मैंने कहा ओ मैं सम्मानित हो जाऊंगा फिर मैंने बिना सोचे समझे तपात से बोल दिया आपको नौकरी करना कैसा लगेगा क्या मेरी एक छोटी सी जूता कंपनी है और पार्ट टाइम और इसे थोड़ी बुक कीपिंग की सहायता की जरूरत है वह अपनी पाठ्य पुस्तक सीने से लगाई थी उसने उन्हें संभाला और अपनी पलकें झपकाई ओ वह बोली ओ अच्छी बात है ठीक है यह मज़ेदार लगता है मैंने उसे एक घंटे के दो डॉलर देने की पेशकश की उसने सिर हलाया पक्का कई दिनों बाद वह ऑफिस में आई वुडेल और मैंने उसे तीसरी डेस्क दे दी वह बैठ गई उसने अपनी हथेलियाँ डेस्कटॉप पर रखी और कमरे में चारों तरफ देखा उसने पूछा आप मुझे क्या कराना चाहते हैं वुडेल ने उसे कई चीज़ों की सूची थमा दी typing bookkeeping scheduling stalling invoice भरना और उसने कहा कि वह हर दिन इनमें से एक या दो को चुन ले और कर दे लेकिन उसने नहीं सुना उसने वह सभी काम किए जल्दी से और आसानी से एक ही सप्ताह के भीतर ना तो वुडेल को और ना ही मुझे यह याद रहा कि हमारा काम उसके बिना कैसे चल रहा था यह मिस पक्सर के काम की गुणवत्ता ही नहीं थी जो हमें इतनी मूल्यवान लगी थी यह तो वह पुरफुल्लित जज्बा था जिसके साथ वह काम करती थी पहले ही दिन से वह पूरी तरह से समर्पित थी उस उसने ये समझ लिया था कि हम वहाँ क्या करने की कोशिश कर रहे थे कि हम क्या बनने की कोशिश कर रहे थे उसे महसूस हुआ कि ब्लू रिबन अनूठी थी कि यह कुछ खास बन सकती है और वह मदद करने के लिए जो कर रही थी वह सब कुछ करना चाहती थी बाद में यह बहुत बड़ी मदद साबित हुई उसका लोगों से व्यवहार करने का काफ़ी प्रभावी तरीका था खास तौर पर सेल्स प्रोजेक्टिव्स के साथ जिन्हें हम नियुक्त करते थे जब भी वे ऑफिस में आते तो मिस बक्सर उन्हें तेजी से ताड़ लेती थी और उन्हें या तो सम्मोहित कर देती थी या उनकी जगह दिखा देती थी जो इस बात पर निर्भर करता था कि सामने वाला कैसा है हालांकि वह शर्मीली थी लेकिन वह हास में निपुणी थी और सेल्स प्रोजेक्टिव यानी वे सेल्समैन जिन्हें वह पसंद नहीं करती थी अक्सर हंसते हुए जाते थे और उन्हें कंधे के पीछे से देखते थे और सोचते थे कि ना जाने इन्हें क्या हो गया है वुडेल पर मिस पॉक्सर का प्रभाव सबसे ज़्यादा स्पष्ट दिखता था वे उस समय एक बुरे समय से गुजर रहे थे उनका शरीर व्हील चेयर से जूझ रहा था और अपने आजीवन कारावास का प्रतिरोधक कर रहा था वे लगातार बैठे लेटे रहने के धावों से और दूसरी बीमारियों से परेशान थे जिनका मूल कारण स्थिर बैठना था इस वजह से वे अक्सर बीमारियों के कारण हफ्तों तक छुट्टी लेने पर मजबूर हो जाते थे लेकिन जब वे ऑफिस में होते जब वे मिस पॉक्सर के बगल में में बैठते तो वह उनके गालों की रंगत लौटा देती उसका उन पर उपचार प्रभाव पड़ता और यह देखने का मुझ पर सम्मोहन प्रभाव पड़ता ज़्यादातर दिन मैं खुद को चकित कर देता जब मैं मिस बॉक्सर और वुडेल के लिए लंच लाने के खातिर सड़क पर दौड़ने की उत्सुक पेशकश कर देता ये ऐसी चीज़ थी जो हम मिस बॉक्सर से करने को कह सकते थे लेकिन हर दिन मैं उसकी पेशकश करता था क्या यह मर्यादा शौर्य था हथकंडा मुझ, मुझे क्या हो रहा था मैं खुद को पहचान नहीं पा रहा था लेकिन कुछ चीज़ें कभी नहीं बदलती मेरा दिमाग डेबिट्स और क्रेडिट और जूते से इतना भरा रहता मैं शायद ही कभी लंच लंच के ऑर्डर सही कर पाता फिर मिस पक्सर ने कभी शिकायत नहीं की ना ही वुडेल ने हमेशा मैं उनमें से प्रत्येक को एक भूरा पेपर बैग थमा देता और वे दोनों कनखानियों से एक दूसरे को देखते वुडेल बुदबुदाते यह देखने के लिए बेताब हूँ कि मैं आज अपने लंच में क्या खाने वाला हूँ मिस पॉक्सर अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी मुस्कान छिपा लेती मैं सोचता कि मिस फॉक्सन ने मेरे सम्मोहन को भाप लिया था हमारे बीच कई लंबी निगाहों का आदान प्रदान हुआ और बातचीत में कई अर्थपूर्ण व अजीब ठहराव रहे मुझे खास तौर पर एक घबराहट भरी हंसी का ठहका याद है एक गैर मामूली खामोशी मुझे आंखों के संपर्क का एक लंबा पल याद है जिसकी वजह से मैं उस रात सो नहीं पाया फिर यह हो गया नवंबर में एक ठंडी दोपहर को जब मिस बॉक्सर ऑफिस में नहीं थी तो मैं ऑफिस के पीछे की तरफ जा रहा था और मैंने उसके डेस्क का डोर खोल देखा मैं उसे बंद करने के लिए रुका और अंदर मैंने चेक्स का ढेर देखा है उसके वेतन के सारे चेक जो उसने नहीं बुनाए थे यह उसके लिए नौकरी नहीं थी यह कुछ और था और इसलिए शायद क्या मैं था शायद बाद में मुझे पता चला कि वुडेल भी यही चीज कर रहे थे उस थैंक सेविंग में पॉडलेट में इत, इतनी ज़्यादा ठंड पड़ी जितनी कभी नहीं पड़ी ऑफिस की खिड़कियाँ के छेदों से आने वाली हवा अब उत्तरी ध्रुव की खूखार हवा में बदल गई कई बार तो हवा के झोंके इतने तेज होते कि कागज डेस्क के ऊपर से उड़ जाते और सैंपल जूते के लेस भी उड़ने लगते ऑफिस में रहना आसानीय था लेकिन हम खिड़कियों की मरम्मत का खर्च नहीं उठा सकते थे और, और हम उसे बंद नहीं कर सकते थे इसलिए वुडेल और मैं मेरे अपार्टमेंट में काम करने लगे मिस बॉक्सर भी हर हर दोपहर को हमारे साथ वहाँ आ जाती एक दिन जब वोडेल घर चले तो ना तो मिक्स बॉक्सर ने ना ही मैंने ज्यादा बातचीत की छुट्टी की समय मैं उसे छोड़ने लिफ्ट तक गया मैंने डाउन बटन दबाया हम दोनों ही तनावपूर्ण अंदाज में मुस्कुराए मैंने एक बार फिर डाउन बटन दबाया हम दोनों ने ही लिफ्ट के दरवाजे के ऊपर की बत्ती को घूरा मैंने अपना गला साफ किया मिस बॉक्सर मैंने कहा क्या आप शुक्रवार रात को मेरे साथ बाहर चलेंगी वही क्लियोपेट्रा जैसी आंखें वे आकार में दुगनी हो गई मैं मैंने कहा मुझे यह कोई और तो नहीं दिख रहा पिन लिफ्ट का दरवाजा खुल गया वो उसने कहा और अपने पैरों को देखा ठीक है ठीक है वह जल्दी से लिफ्ट में चली गई और जब दरवाजा बंद हुआ तब भी उसने अपनी निगाह अपने जूतों से नहीं उठाई मैं उसे ऑर्गिन जू लेकर गया मैं नहीं जानता था कि क्यों मुझे लगता था कि मैंने ये सोचा होगा कि चारों तरफ घूमना और जानवरों को देखना एक दूसरे को जानने का एक शांत तरीका है इसके अलावा वर्ग के अजगर नाइजीरिया के बकरिया अफ्रीका के मगरमच्छ ये मुझे अपनी यात्रा देवताओं की कहानी से उसे प्रभावित करने के पर्याप्त अवसर देंगे मुझे पिरामिड और नाइकी का मंदिर देखने के बारे में डींग हाँकने की जरूरत महसूस हुई मैंने उसे कोलकाता में बीमार होने के बारे में भी बताया मैंने उस डरावने पल को विस्तार से किसी को नहीं बताया था मैं नहीं जानता था कि मैं मिस बॉक्सर को क्यों बता रहा था सिवाय इसके कि कोलकाता मेरे जीवन के सबसे एकांकी पलों में से एक था मैंने स्वीकार किया कि ब्लू रिबन कमज़ोर थी ये पूरी चीज़ किसी दिन दिवालिया हो सकती थी लेकिन मैं खुद को कोई दूसरी चीज़ करते नहीं देख सकता मेरी छोटी जूता कंपनी एक जीवित सांस लेती चीज़ है मैंने कहा जिससे मैंने शून्य से बनाया था मैंने इसे प्रमाण फूके इसे बीमारी में पाला इसे मुर्दा होने के बाद कई बार जिंदा किया और अब मैं चाहता हूँ कि अब मुझे ज़रूरत है है कि अपने पैरों पर खड़ी हो जाए और विख्यात हो मैंने कहा क्या इसमें साझेदारी लगती है हम्म, हम्म उसने कहा हम शेरों और बाघों के पास से गुजरे मैंने उसे बता दिया कि मैं किसी दूसरे की खातिर कभी काम नहीं करना चाहता मैं कोई ऐसी चीज बनाना चाहता हूँ जो मेरी खुद की हो कोई ऐसी चीज जिसकी तरफ इशारा करके मैं कह सकूँ कि इसे मैंने बनाया है यह जीवन को सार्थक बन, बनाने का एकमात्र तरीका था जो मुझे नजर आ रहा था उसने सिर कहलाया बुनियादी अकाउंटिंग सिद्धांत की तरह ही उसने सहज बोध से ये सारी चीज़ें तुरंत समझ लीं मैंने पूछा कि क्या वह किसी को डेट कर रही है उसने स्वीकार किया कि हाँ उसने अब तक जितने भी लड़कों के साथ डेटिंग की थी वे सभी खेलों और कारों के बारे में बात करते थे लेकिन आप उसने कहा आपने दुनिया देखी है और अब आप इस कंपनी को बचाने के लिए हर चीज दाव पर लगा रहे हैं उसकी आवाज़ गायब हो गई मैं तनकर खड़ा हो गया हमने शेरों और बाघों से विदा ली हमारी दूसरी डेट पर हम ऑफिस के पार वाली सड़क पर बने एक चीनी रेतारा जैड वेस्ट में गए मंगोलियन मीट और गार्लिक चिकन खाते समय उसने मुझे अपनी कहानी बताई वह भी अपने माता पिता के घर पर रहती थी और अपने परिवार से बहुत प्रेम करती थी लेकिन कई चुनौतियां भी थीं उसके पिता नौसेना विभाग में वकील थे जो मुझे एक अच्छा काम लगा था उस, उनका मकान निश्चित रूप से उस मकान से ज़्यादा बड़ा और बेहतर लग रहा था जिसमें मैं बड़ा हुआ था था लेकिन उसने संकेत किया कि पांच बच्चों के कारण स्थिति तनावपूर्ण रहती थी पैसों की समस्या हमेशा बनी रहती थी थोड़ी राशनिंग सामान्य कार्यकारी सिद्धांत थी कभी पर्याप्त सामान नहीं रहता था टॉयलेट पेपर जैसी बुनियादी सामानों की आपूर्ति भी कम रहती थी पूरा घर असुरक्षा से भरा हुआ था उसे असुरक्षा पसंद नहीं थी वह सुरक्षा को ज्यादा पसंद करती थी उसने उसे दोबारा कहा सुरक्षा इसलिए वह अकाउंटिंग की ओर आकर्षित हुई थी यह ठोस विश्व विश्वसनीय सुरक्षित काम का क्षेत्र दिख रहा था जिस पर वह हमेशा भरोसा कर सकती थी मैंने पूछा आपने पोलैंड टेस्ट को क्यों चुना उसने कहा कि उसने पहले ऑर्गन टेस्ट में शुरुआत की थी ओ मैंने कहा मानो उसने जेल में रहने की बात स्वीकार कर ली हो वह हंसी अगर आपको तसल्ली मिले तो मैं उससे नफरत करती थी खास तौर पर वह स्कूल की उस आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाई कि हर विद्यार्थी सार्वजनिक संघ भाषण में कम से कम एक क्लास ले वह बहुत ज्यादा शर्मीली थी मैं समझता हूँ मिस पॉलस मुझे पैनी कहे डिनर के बाद मैं उसे छोड़ने घर गया और उसके माता पिता से मिला मम्मी डैडी ये मी नाइट है आपसे मिलकर खुशी हुई मैंने कहा और उसने हाथ मिलाया हमने एक दूसरे को घूरा फिर दीवारों को फिर फर्श को मैंने अपनी घड़ी के थपथपाते हुए और अपने रबड़ बैंड को चटकाते हुए कहा देर हो रही है अब चलता हूँ उसकी माँ ने दीवार पर घड़ी देखी अभी तो सिर्फ नौ बजे हैं क्या शानदार डेट थी हमारी दूसरी डेटिंग के ठीक बाद पैनी अपने माता पिता के साथ क्रिसमस पर हवाई चली गई उसने मुझे एक पोस्ट कार्ड भेजा और मैंने उसे एक अच्छा संकेत माना जब वह लौटी तो ऑफिस में पहले दिन ही मैंने उसे एक बार फिर डिनर पर पर चलने को कहा यह जनवरी 1968 की शुरुआत थी जो बहुत ठंडी रात थी एक बार फिर हम जेट वेस्ट में मिले लेकिन मैं अपने ईगल स्टॉक रियू वार्ड की वजह से काफ़ी देर से पहुंचा जिसके लिए उसने मेरी काफ़ी खिंचाई की ईगल स्काउट ऐप मैंने उसे एक और अच्छा संकेत माना और तीसरी डेट के बाद तीसरी बिंदु पर मैंने गौर किया कि हम दोनों में ज़्यादा तालमेल है यह अच्छा महसूस हो रहा था यह सिलसिला चलता रहा और अगले कुछ सप्ताह तक ज़्यादा गहरा हुआ हमारे बीच एक तालमेल विकसित हो गया एक दूसरे के लिए एहसास विकसित हो गया और गैर शाब्दिक चंपेशन की कला भी जैसा सिर्फ दो शर्मीले लोग करते हैं जब वह शर्मीली या असहज महसूस करती तो मैं उसे भाप लेता और यह तो उसे स्वतंत्रता दे देता या तो उसे कुदेरता था जो परिस्थितियों पर निर्भर करता था जब मैं खोया खोया रहता था और व्यवसाय के बारे में किसी आंतरिक बहस में उलझ जाता था तो वह जानती थी कि मुझे कंधे पर हल्के से थपथपाना है पैनी अभी कानूनी रूप से इतनी बड़ी नहीं हुई थी शराब पी सके लेकिन हम अक्सर उसकी एक बहन का ड्राइविंग लाइसेंस ले लेते थे और डेटर विक में कॉकटेल पीने जाते थे शराब और समय ने अपना जादू किया फरवरी तक यानी वह अपने खाली समय का हर मिनट ब्लू रिबन में गुजार रही थी और शामें मेरे अपार्टमेंट में किसी बिंदु पर उसने मुझे मी नाइट कहना छोड़ दिया जैसे अविश्वसनीय भाव था अपने परिवार से मिलाने के लिए उसे घर लाया हम सभी डाइनिंग रूम की टेबल पर बैठे हमने माँ का बनाया पॉट रोस्ट खाया फिर ठंडा दूध पिया यह नाटक किया कि यह अजीब नहीं था पहनी वह दूसरी लड़की थी जिसे मैं कभी घर लाया था और हालांकि इसमें सारा जैसा तूफान तूफ़ानी करिश्मा नहीं था लेकिन इसके पास जो था वह बेहतर था उसका सम्मोहन वास्तविक था बिना रिहर्सल का था और हालांकि नाइट परिवार को यह पसंद आया लेकिन वह फिर भी नाइट परिवार था मेरी माँ ने कुछ नहीं कहा मेरी बहनों ने मेरे डैडी के लिए पुल बनाने की निरर्थक कोशिश की डैडी ने पैनी की पृष्ठभूमि और परवरिश के बारे में कुछ जांच पड़ताल करने वाले विचारशील प्रश्न पूछे जिसमें वे लोन ऑफिस और हत्या की जांच करने वाले पुलिस अधिकारी के बीच की चीज लगने लगे पैनी ने मुझे बाद में बताया कि वह माहौल उसके घर का ठीक विपरीत था जहाँ डिनर पर खुला माहौल रहता था हर कोई एक दूसरे पर हंसता था और बात करता था पृष्ठभूमि में कुत्ते भोंगते थे और टीवी बजता था मैंने उसे आश्वस्त किया कि किसी को भी कभी शक नहीं हुआ कि वह अजीब महसूस कर रही थी इसके बाद वह मुझे घर लेकर गई और मैंने हर चीज की सच्चाई देखी और उसने मुझे बताई कि उसका घर हमारे घर से विपरीत था हालांकि यह नाइट परिवार के बंगले से ज़्यादा भव्य था लेकिन यह बेहतरीन था गलीचे जानवरों की निशानियों से सने थे जर्मन शेफर्ट बंदर बिल्ली कुछ सफ़ेद चूहे और एक बुरे स्वभाव वाली बत्तख और अजरकता का बलबोला था बॉक्सर परिवार और उनके ढेर सारे पालतू जानवर के अलावा पड़ोस के कई भटके हुए बच्चे भी वहाँ थे मैंने आकर्षक बनने की अपनी सर्वश्रेष्ठ कोशिश की लेकिन मैं किसी से भी बंधन नहीं जोड़ पाया चाहे वह इंसान हो या जानवर धीरे धीरे कष्टदायक तरीके से मैंने पैनी की माँ डॉट से बात की उन्हें देखकर मुझे मैम आंटी की याद आती है मस्खरी शरारती चिर युवा कई मायनों में वह स्थायी किशोरी थी और माँ की भूमिका का प्रतिरोधक करती थी मुझे लग रहा था वे पैनी की माँ के बजाय बहन जैसी ज़्यादा थी और सचमुच डिनर के बाद जब पैनी और मैंने उन्हें हमारे साथ डिनर पर चलने के लिए आमंत्रित किया तो वह उछलकर तैयार हो गई हम कई खूबसूरत जगह पर गए और आखिरकार पूर्वी सिरे रात वाले पैनी दो कॉकटेल के बाद पानी पर आ गई लेकिन डॉट नहीं डॉट तो लगातार चलती रही और जल्द ही वे सभी तरह के अजीब आदमियों के साथ उछल उछलकर नाचने लगी एक बिंदु पर उन्होंने पैनी की तरफ अंगूठा दिखाया और मुझसे कहा चलो इस गीले कंबल में छोड़ते हैं वह बहुत शानदार था पैनी ने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया मैं हंस रहा था और पीछे उछल पड़ा मैं डॉट के इम्तिहान में उत्तीर्ण हो गया था डॉट ने अनुमोदक की मोहर और कुछ महीने बाद एक अच्छी चीज़ साबित हुई जब मैं पैनी को एक लंबे वीकेंड पर बाहर ले जाना चाहता था हालांकि पैनी मेरे अपार्टमेंट में शामें बिता रही थी लेकिन कई मायनों में हम अब भी मर्यादा के बंधन में थे जब तक पैनी अपने माता पिता की छत के नीचे रह रही गई थी तब तक वह उन आज्ञा मानने और उनके नियमों का पालन करने के लिए बाध्य थी इसलिए इतनी बड़ी यात्रा से पहले मैं उसकी माँ की सहमति लेने के लिए बाध्य था सूट और टाई पहनकर मैं उनके घर पहुँचा मैंने पशुओं से अच्छा व्यवहार किया बत्तखों को लाड किया और डॉट से बातचीत का आग्रह किया हम दोनों किचन टेबल पर बैठे और कॉफ़ी पीते हुए मैंने कहा कि मैं पैनी की बहुत ज़्यादा परवाह करता हूँ डॉट मुस्कुराई मैंने कहा कि मुझे यकीन था कि पैनी भी मेरी बहुत ज़्यादा परवाह करती है डॉट मुस्कुराई लेकिन हम यकीन के साथ मैंने कहा कि मैं पैनी को वीकेंड पर सैक्रमांटो ले जाना चाहता हूँ राष्ट्रीय टैंक एंड फील्ड चैंपियनशिप में डॉट ने अपनी कॉफ़ी की चुस्की ली और अपने होठ सिकोड़े हूँ हम्म, नहीं उन्होंने कहा नहीं नहीं बग मुझे ऐसा नहीं लगता मैं मैं नहीं सोचती कि हमें ये करना चाहिए ओ मैंने कहा मुझे ये सुनकर अफसोस हुआ मैं लौट आया मुझे पैनी घर के पीछे एक कमरे में मिली और मैंने उसे बता दिया कि उसकी माँ ने इनकार कर दिया है पैनी ने अपनी हथेलियाँ अपने गालों पर रख ली मैंने उससे कहा कि वह चिंता नहीं करे मैं घर जाऊंगा सोच विचार करूंगा और कोई ना कोई रास्ता निकालने की कोशिश करूंगा अगले दिन मैं दोबारा उसके घर पहुंचा और एक बार फिर डॉट से एकांत में बात करने का समय मांगा एक बार फिर हम किचन में कॉफ़ी पीने लगे मैंने कहा डॉट मैं शायद कल अच्छी तरह नहीं बता पाया मैं आपकी बेटी के बारे में कितना गंभीर हूँ देखिए डॉट मैं पैनी से प्यार करता हूँ और पैनी मुझसे प्यार करती है और अगर चीज़ें इसी तरह चलती रही तो मुझे लगता है कि हम एक साथ जीवन बिताएंगे इसलिए मुझे सच सचमुच आशा है कि आप अपने कल के जवाब पर पुनः विचार करेंगे डॉट ने अपनी कॉफ़ी में शक्कर मिलाई और टेबल पर उंगलियां बचाईं उनके चेहरे पर अजीब सा भाव था डर का और कुंठा का वे ज़्यादा सौदे में शामिल नहीं थी और यह नहीं जानती थी कि सौदेबाजी का बुनियादी नियम यह जानना है कि आप क्या चाहते हैं और आपको कितना स्वीकार करना चाहिए इसलिए वे हड़बड़ा गई और उन्होंने तुरंत ही हथियार डाल दिए ठीक है वे बोली ठीक है पैनी और मैं विमान से सेक्रेटो गए हम दोनों ही माता पिता और गाताओं से दूर रहने के बारे में रोमांचित थे हालांकि मुझे शक था कि पैनी अपनी हाई स्कूल में ग्रेजुएशन उपहार यानी पिंक लॉगेज में मैजिक सेट के इस्तेमाल के बारे में ज़्यादा रोमांचित थी कारण चाहे जो भी हो कोई भी चीज़ उसे अच्छे मूड को ख़राब नहीं कर पाई उस वीकेंड पर काफ़ी गर्मी थी लेकिन पैनी ने एक बार भी शिकायत नहीं की बैलीचर में धातु की सीटों के बारे में भी नहीं जो तवे जैसी लग रही थी वह तब भी बोर नहीं हुई जब मैंने ट्रैक की बारीकियाँ समाई धावक की तनाई और कौशल के बारे में बताया तो वह रुचि ले रही थी वह सब कुछ समझ गई तुरंत ही मैं उसे मैदान के अंदर की घास पर ले गया उसका परिचय अपनी पहचान के धावकों से कराया ववरमैन से भी जिन्होंने भारी शिष्टाचार दिखाते हुए उसकी प्रशंसा की उन्होंने कहा कि वह बहुत सुंदर है और पूरी गंभीरता से वह मेरे जैसे निकम्मे के साथ क्या कर रही थी हम पूरे पूर्व कोच के साथ खड़े होकर अपनी दिन की आखिरी दौड़ों को देख रहे थे रात हम कस्बे के कोने पर बने एक होटल में रुके एक स्वीट में जो अजीब से भूरे रंग में रंगा और सजा था हम दोनों ही इस बात पर सहमत थे कि यह जले टोस्ट का रंग था रविवार की सुबह हमने पूल में बिताई और हम ड्राइविंग बोर्ड के नीचे की छाया में सूर्य से छिपे किसी बिंदु पर मैंने हमारे भविष्य का विषय उठाया मैं अगले ही दिन जापान की लंबी और महत्वपूर्ण यात्रा पर जा रहा था मुझे उम्मीद थी कि इस यात्रा के बाद अनुतुक्षा के साथ मेरा संबंध मजबूत हो जाएगा मैंने पैनी से कहा कि उस गर्मी के बाद मैं जब मैं लौटूंगा तो हम डेटिंग नहीं कर सकते पोलैंड स्टेट में शिक्षक विद्यार्थी के प्रेम संबंध को पसंद नहीं किया जा सकता हम अपने संबंध को औपचारिक बनाने के लिए कुछ करना होगा ताकि यह दोषपूर्वक से ऊपर उठ जाए यानी शादी मैंने पूछा जब मैं यहाँ नहीं रहूँगा तो क्या तुम शादी की सारी तैयारी खुद कर सकती उसने कहा हाँ बहुत कम विचार विमर्श या सस्पेंस या जज्बात नहीं थे कोई साझेदारी नहीं थी यह एक तय निष्कर्ष जैसा महसूस हुआ हम जले हुए टोस्ट वाले स्वीट में गए और पैनी के घर फ़ोन किया डॉट ने जवाब दिया पहली ही घंटी पर मैंने उन्हें खबर दी कि एक लंबे ठहराव के बाद वे बोली तुम्हारा बेड़ा गर्क हो क्लिक कुछ पल बाद उन्होंने दोबारा फ़ोन किया उन्होंने कहा कि उन्हें आवेदन में प्रतिक्रिया कर दी है क्योंकि वे गर्मियों में पैनी के साथ मौज मस्ती करने की योजना बना रही थी इसलिए उन्हें निराशा हुई उन्होंने कहा कि पैनी की शादी की योजना बनाने में गर्मी बिताना भी लगभग उतना ही मजेदार होगा फिर हमने मेरे माता पिता को फोन किया वे खुश लग रहे थे लेकिन मेरी बहन जीन की उसी समय शादी हुई थी वे शादियों से थोड़े परेशान थे हमने फोन रखा और एक दूसरे की तरफ देखा भूरे वॉलपेपर की तरफ देखा बुरे कालीपन की तरफ देखा और दोनों ने आ भरी तो यह जीवन है मैं खुद से बार बार कहता रहा मेरी सगाई हो गई है लेकिन यह अंदर से महसूस नहीं हो रहा था क्योंकि हम सेक्टरों में एक होटल में थे और बाहर लू चल रही थी बाद में जब हम घर लौटे और सुनार के यहाँ जाकर पन्ने के रत्न वाली सगाई की अंगूठी चुनी तो यह वास्तविक महसूस होने लगा रत्न और उसे लगवाने की लागत 500 डॉलर थी ये बहुत ही वास्तविक थी लेकिन मैंने कभी एक बार भी घबराहट महसूस नहीं की कभी उस उस पुरुषों में होने वाले पश्चाताप नहीं किया हे भगवान ये मैंने क्या कर दिया पैनी से परिचय और डेटिंग वे महीने मेरे जीवन के सबसे सुखद महीने थे और जब मेरे पास उस खुशी को स्थायी बनाने का अवसर था मैंने इसे इस तरह देखा अकाउंटिंग 101 जितना बुनियादी संपत्ति दायित्व और इक्विटी के योग के बराबर होती है जब तक मैं जापान नहीं चला गया तब तक मैंने अपनी मंगेतर को चुमकर विदा नहीं किया और वह पहुंचते ही पत्र लिखने का वादा नहीं किया तब तक पूरी वास्तविकता मुझ पर हावी नहीं हुई मेरे पास प्रेमिका और पत्र से अधिक मेरी मंगेतर एक साझेदार थी अतीत में मैंने खुद को बताया था कि बवरमैन मेरे साझेदार हैं और कुछ हद तक जॉनसन भी लेकिन पैनी के साथ साझेदारी अनूठी और अभूतपूर्ण थी यह गठबंधन जीवन बदलने वाला था इसके बावजूद मैं घबरा नहीं रहा था मैं तो ज़्यादा जागरूक बन रहा था मैंने कभी किसी सच्चे साझेदार से विदा नहीं ली थी और यह बहुत अलग महसूस हुआ उसकी कल्पना करें मैंने सोचा आप किसी व्यक्ति के बारे में कैसा महसूस करते हैं यह पता लगाने का एकमात्र सबसे आसान तरीका है उससे अलविदा कह दें अनुतक्षा में मेरा पूर्व प्रचलित किटामी अब भी वहीं था उसी जगह पर दूसरे को नहीं रखा गया था उसने दूसरे काम में नहीं सौंपा गया था इसके विपरीत कंपनी में उसकी भूमिका ज्यादा सुरक्षित थी जो उसके व्यवहार में झलक रही थी वह ज्यादा आरामदेह ज्यादा आत्मविश्वासी नजर आ रहा था उसने परिवार के सदस्य की तरह मेरा स्वागत किया और कहा कि वह ब्लू रिबन के प्रदर्शन से और हमारे ईस्ट कोस्ट ऑफिस से अनिंदित है जो जॉनसन के प्रबंधन में फल फूल रहा था उसने कहा आइए हम इस काम पर काम करते हैं कि हम अमेरिकी बाजार पर कैसे कब्जा कर सकते हैं मैंने कहा मुझे यह सुनकर अच्छा लगा मेरी ब्रीफकेस में मैं बवरमैन और जेनसन दोनों के लिए जूते के डिजाइन लेकर आया था जिसमें वह भी था जिसने उन दोनों ने टीम के रूप में बनाया था एक जूते जिसे हम बॉस्टन कह रहे थे इसमें एक नवचारी पूरी लंबाई का पिस्टोल कुशन था केटामी ने डिजाइन दीवार पर लगा दी और उनका बारीकी से अध्ययन किया उसने अपनी मुट्ठी और एक हाथ से पकड़ ली उसने कहा कि वे उसे पसंद आए उसने मेरी पीठ पर धोल मारते हुए कहा बहुत बहुत अच्छे हैं अगले कुछ सप्ताह में हम कई बार मिले और एक बार मुझे किटामी के भाईचारे वाले भाव का एहसास हुआ एक दोपहर उसने जिक्र किया कि उसका निर्तन विवाह कुछ ही दिनों में सालाना पिकपिन आ रहा है उसने कहा अब भी चलना मैंने कहा मैं उसने कहा हाँ हाँ आप निर्यात विभाग में मान्य सदस्य हैं पिकनिक कोबे के पास एक छोटे टापू पर थी हम वहाँ एक छोटी नाव से गए थे और तो हमने समुद्र तक लंबी टेबलें लगी देखी जिनमें से प्रत्येक हर समुद्री भोजन की प्लेट थी और नूडल व चावल के बॉल्स थे टेबल पर पास सोडा और बियर की ठंडी बोतलें से भरे टब थे हर कोई बोर्डिंग सूट और और चश्मे में था और हंस रहा था जिन लोगों में मैं कंपनी की सेहती पुष्टकृति में जानता था वे अब मूर्खतापूर्ण और चिंता रहित हो रहे थे देर शाम को कई प्रस्तुतियां हुई टीम बनाने वाले व्यायाम जैसे आलू बोरा रेस और समुद्र तट के पास दौड़ना मैंने अपनी गति का प्रदर्शन किया और जब मैं सबसे पहले फिनिश लाइन के पार करके पहुंचा तो हर एक ने तालियां बजाकर मेरा अभिनंदन किया हर कोई सहमत था कि यह दुबला अमेरिकी बहुत तेज है मैं धीरे धीरे अपनी भाषा को समझता जा रहा था मैं जूतों के लिए जापानी शब्द जानता था गुडिज मैं आय के लिए जापानी शब्द जानता था शून्य मैं यह जानता था कि समय और दिशाएं कैसे पूछना और मैंने एक वाक्य भी सीख लिया जिसका इस्तेमाल मैं अक्सर करता था जिसका मतलब यह मेरी कंपनी के बारे में कुछ जानकारी है पिकनिक के अंत के करीब में बालू पर बैठा और प्रशांत महासागर के पार दिखने लगा मैं दो अलग अलग जीवन जी रहा था दोनों ही अद्भुत थे दोनों का ही विलियम हो रहा था अमेरिका में मैं एक टीम का हिस्सा था जिसमें मैं वुडोल और जॉनसन थे और अब पैनी भी जहाँ जापान में एक टीम का हिस्सा था जिसमें मैं और किटामी और अनुतिक्सा के सभी अच्छे लोग थे स्वभाव में एक एकांकी थी लेकिन बचपन में ही टीम खेलों से फल फूल रहा था मेरी आत्म सच्चे से सामान्य में तब रही थी और जब अकेले के समय और टीम के समय का मिश्रण होता था ठीक वैसा ही जैसा उस समय था इसके अलावा मैं एक ऐसे देश के साथ व्यवसाय कर रहा था जिसे मैं प्रेम करने लगा था शुरुआती डर चुका था मैं जापानी लोगों से जुड़ चुका था उनकी संस्कृति और प्रोडक्ट तथा कलाओं की सादगी से जुड़ चुका था मुझे यह पसंद आया कि वे जीवन के हर हिस्से में सौंदर्य जोड़ने की कोशिश करते हैं चाय की रस्म से लेकर कमोल तक मुझे यह भी पसंद आया कि रेडियो हर दिन यह घोषणा करता है कि चेरी वृक्ष किस कोने पर फल फूल रहे और कितना मेरी तनता और टूटी जब फोटोजिटा नामक आदमी मेरे पास आकर बैठ गया उसकी उम्र पचास के आसपास थी और उसके कंधे झुके थे उसके अंदाज में निराशा का भाव था जो आधेड़वासी की आदमी से ज्यादा था जापानी चल्ली बाउस जैसा लेकिन मैं समझ गया कि वह मेरे खुशमजाज बनने का नाटक भी कर रहा था वह मजबूरी में खुलकर हंसा और उसने मुझे बताया कि वह अमेरिका से प्रेम करता है वहाँ रहना चाहता है मैंने उसे बताया कि अभी अभी यह सोच रहा था कि मैं जापान से कितना ज़्यादा प्रेम करता हूँ मैंने कहा शायद हमें जगह बदल लेनी चाहिए वह अफसोस के साथ मुस्कराया किसी भी समय मैंने उसकी अंग्रेजी की प्रशंसा की उसने कहा कि उसे यह अमेरिकी सैनिकों ने सिखाई थी अजीब बात है मैंने कहा मैंने जापानी संस्कृति के बारे में जो पहली चीजें देखी वे थी पूर्व सैनिकों से सीखी थी कि पूर्व सैनिक ने उसे पहले शब्द सिखाए थे वे थे मेरा पुट्ठा चूसो हम इस बारे में खूब हंसे मैंने पूछा कि कहाँ रहता है और उसकी मुस्कान गायब हो गई वह बोला महीनों पहले मेरा घर चला गया टाइफून बिली तूफान ने होशनी और क्यूशा में जापानी टापुओं को मिटा डाला था और साथ में 2000 घरों को भी फूटा जेटो ने कहा उन घरों में एक घर मेरा था मुझे बहुत अफसोस है मैं मैंने कहा उसने सर हिलाया और और पानी को देखता रहा उसने कहा कि उसने दोबारा शुरुआत की जैसा जापानी करते हैं दुर्भाग्य से वह हर चीज़ खरीदने में कभी कामयाब नहीं हो पाया उसकी साइकिल 1960 के दशक में साइकिलें जापान में कुछ ज़्यादा महंगी थी इस बीच टकामी हमारे पास आ गया मैंने गौर किया कि फूजी मोटा तुरंत ही उठकर दूर चला गया मैंने कटामी से जिक्र किया कि फूजी मोटा ने अंग्रेजी पूर्व सैनिकों से सीखी थी और कटामी ने गर्व से कहा कि उसने अपनी अंग्रेजी एक रिकॉर्ड की मदद से खुद सीखी है मैंने उसे बधाई दी और उसने कहा कि मुझे आशा है कि एक दिन मैं अपनी जापानी भाषा में इतना ही धारा प्रवाह बन जाऊंगा जितना कि अंग्रेजी में था फिर मैंने जिक्र किया कि मेरी जल्दी ही शादी हो रही है मैंने उसे पैनी के बारे में थोड़ा सा बताया उसने मुझे बधाई और शुभकामनाएं दी उसने पूछा शादी कब है मैंने कहा सितंबर में वह बोला मैं उसके एक महीने बाद अमेरिका में रहूँगा जब मैं मी ओनोतुक्सा और मैं मैक्सिको सिटी में ओलंपिक्स में जाएंगे हम लॉन्स एंजलिस आ सकते हैं उसने मुझे वहाँ अपने साथ डिनर करने के लिए आमंत्रित किया मैंने कहा कि मुझे पसंद आया अगले दिन मैं अमेरिका लौटा और उतरने के बाद मैंने जो पहली चीज़ की उसमें से एक था लिफाफे में पचास डॉलर रखकर फुचोटिचा को एयर मेल करना कार्ड पर मैंने लिखा एक नई साइकिल के लिए मेरे दोस्त एक सप्ताह बाद फौजी मोटो का एक लिफाफा आया अंदर मेरे पचास डॉलर थे और साथ में एक पत्र था जिसमें बताया गया है कि उसने अपनी वरिष्ठ अधिकारी से पूछा कि क्या वह पैसे रख ले और उन्होंने कहा नहीं यह पुण्य पश्चात ही था अगर आप मेरे घर पर भेजते तो मैं रख सकता था मैंने ऐसा ही किया और इस तरह एक और जीवन बदलने वाली साझेदारी का जन्म हुआ तेरह दिसंबर 1968 को पैनी और मैंने 200 लोगों के सामने डाउनटाउन पैलोड में सेट वैक्स एपिकोस चर्च में विवाह की कस्में उसी वेदी पर खाई जहाँ पैनी के माता पिता की शादी शादी हुई थी लगभग एक साल हो गया था जब मिस बॉक्सर मेरे क्लासरूम में चलकर आई थी और वह एक बार फिर एक तरह से सामने वाली कतार में थी फ़र्क यह था कि इस बार उसके बगल में खड़ा और अब यह मिसेज नाइट थी हमारे सामने उसके अंकल खड़े और जो पैसा डेना के एपिकोस फादरी थे जिन्होंने रस्में कराई पैनी बहुत ज़्यादा कांप रही थी वह अपनी ठुड्डी उठाकर ना तो उन्हें देख रही थी और ना ही मुझे मैं काँप नहीं रहा था क्योंकि मैंने एक चाल चली थी मेरे बेस्ट पॉकेट में एयरफेल बिहारी की दो छोटी बोतलें थीं जो मुझे जापान की हाल ही यात्रा में मिली थी मैंने एक समारोह के ठीक पहले चढ़ा ली थी और एक समारोह के ठीक बाद मेरा बेस्ट मैन काजिन हाउस था मेरा वकील मेरा पायलट था बाकी के साथी पैनी के दो भाई थे साथ ही बिजनेस स्कूल का एक मित्र केल जिसने समारोह के कुछ पल पहले मुझे कहा था मैं दूसरी बार इतना घबराया देख रहा रहा हूँ हम हंसे और फोर्ड का वह दिन याद किया जब मैंने उद्यमिकता की कक्षा में अपनी प्रस्तुति दी थी मैंने सोचा आज भी इसी से मिलता जुलता एक बार फिर मैं कमरे में मौजूद लोगों को बता रहा हूँ कि कोई भी चीज़ संभव है कोई भी चीज़ सफल हो सकती है जबकि मैं सचमुच नहीं जानता था हर दूल्हे की तरह मैं भी सिद्धांत विकास और अनुमान के आधार पर बोल रहा था और हर दुकान की तरफ हम उस दिन जो भी कर रहे थे उसी सच्चाई को साबित करना मुझ और पैनी पर निर्भर था था रिफेक्शन पोलैंड के गार्डन क्लब में जहां सोसाइटी की महिलाएं गर्मियों की रात को कॉकटेल पीने और गपशप करने के लिए इकट्ठी होती हैं रात गर्म थी आसमान बारिश की चेतावनी दे रहा था हालांकि बारिश हुई नहीं मैंने पैनी के साथ डांस किया मैंने डॉट के साथ डांस किया मैंने अपनी माँ के साथ डांस किया आधी रात से पहले पैनी और मैंने सबसे विदा ली और हम मेरी एकदम नई काली काउगर में कूद कर बैठ गए मैं तेजी से समुद्र तक पर दो घंटे दूर ले गया जहाँ हमने उसके माता पिता के बीच हाउस पर वीकेंड बिताने की योजना बनाई थी दौड़ हर आधे घंटे बाद फोन करती हैं